साहब साहब इस महफिल में इतने आपके कदरदान मौजूद हैं और मेरा ये खुशगवार फर्ज है कि मैं आपका तारुफ कराऊं तो ये काम तो बहुत आसान है कि सिर्फ फराग गोरखपुरी कह देना आपका तारुफ है और अभी अभी आपने जिक्र किया था फराग के आतश के शेर का तो आतशी की ज़मीन में आपका शेर है मंजिलें गर्भ की मानंद उड़ी जाती हैं वही अंदाज जहाने गुजरा है जो था इस शेर पे आप कुछ रोशनी डालेंगे मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि तीन चार हजार बरस से इस हकीकत पर रोशनी हिंदुस्तान के सोचने वालों ने डाली है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बदलती न जाए या जो तब्दीली जिसमें न हो बल्कि ये भी कह दिया गया है कि एक जगह पकान नहीं यही चीज यूनान में कही गई थी कि you can not bathe in the same stream twice Heraclitus तो मैंने कहा तो गलत कहा you can not bathe in the same stream in once उतनी में तो कहीं आदमी चला जाएगा but is not right meaning तो इस पर गुजारिश की है कि हम लोगों के लिए ये आम तरह से इल्ज़ाम दिया गया है हिंदुस्तान और एशिया के लिए जनरली कि तहजीबें दो तरह की होती हैं टेम्पोरल एंड इटर्निस्ट इस्लाम बैन मैन वो मिडिल ईस्ट है ना तो यूरोप को छू भी रहा है और हमारे यहाँ राइट लिविंग पर ज़्यादा जोर है प्रोग्रेस प्रोग्रेस करने पर उतना जोर नहीं दिया गया है अच्छा लेकिन बुद्ध ने और सबने बताया है कि बराबर दुनिया बदल रही है ये परिवर्तनशील संसार है तो इस शेर को क्यों कहा इस शेर में हमने कहा कि क्या नई बात की वो एक तो सोची तौर पर इसमें इस शेर में जहान गुजरा की जो हरकत है वो शेर के रिज्म में मंजिलें गर्द के मानी तो जाती हैं वही अंदाज जहाने गुजरा मालूम होता है कि, कि अल्फाज के कदम पड़ रहे हैं आगे हाँ। है कि जो था और तो कोई खास बात गुजारिश करना इस शेर पर प्रणाम साहब कुछ ऐसी यादगार महफिलों की बात कीजिए जो आपने देखी हो जो इस वक्त याद आ जाए जहन पे जोर डाले बगैर एक बार दिल्ली रेडियो में हम बदनसीब शायर सब बुलाए गए तो जिगर भी थे मरहूम यगाना मरहूम असगर साहब नहीं थे और बड़े यगाना मेरे पास बैठ गया यहाँ बैठ गए जैसे हम आप बैठे वहाँ जिगर बैठे थे यगाना को मूड आ गया तो मीर के मुतल वो कहने लगे कि साहब अरब और ईरान में भी इस दिमाग का आदमी नहीं पैदा हुआ जैसे मीर न जाने क्यों ना वो जिगर ने ये समझा कि ये रटी हुई तारीख रटी हुई तारीख है मीर को सब मानते हैं इन्होंने भी कह दिया मीर मीर मीर जिसको देखिए मीर वहीं से सुन लिया है गाना ने काफी रात तुमको मीर का एक शेर सुना है उसी वक्त में सोलह तूर दीवाने जिगर छप के आया था कहने लगे सब कौन इस कबाश का है मीर नूदर भरे हैं सारे देखो ना जो लोगों के दीवान निकलते <laughs> इसके बाद जिगर का तो <laughs> अच्छा वाक यह कि मैंने गौर भी किया कि मीर और जिगर अमीर के मतलब जिगर और असगर और कभी कभी अमीर मीनाई का ख़ानदान भी हालांकि मसफ़ी का ख़ानदान है मगर वो कुछ अजीब उनका रद्दमल है मीर की तारीफ पर ज़रा सा मुंह बना लेते हैं सब लोग खुद उस्ताद है दुनिया में डंका बजा हुआ है तो एक और शख्स जिसका डंका बजा हुआ उसके ये तो कह नहीं सकते कि वो छोटे दिलो दिमाग के लोग हैं रश की वजह से ये बात नहीं मीर का कायल होना ऐसा है कि आलमों के नजदीक इल्म के आप न कायल हो चीज के कायल तो जब इसी से मैंने इमाम बाड़े में जब मजनू के वहां ठहरा था तो मजनू ने लोक लिया मेरा फ्रेज मेरे पहले ही अपने तनकीद में इस्तेमाल कर दिया मैं खुश हुआ इससे मैंने कहा कि मीर अनसरी शायर elemental not elementary elemental poet है अब एलिमेंटल होना लर्नेड होने से कादरुल कलाम होने से अनीस होने से सबसे मुश्किल बेक वक्त खुदा और एक दबा बच्चा होना ये है ये दोनों बातें मीर मीर के बेहतरीन है शहर भाई हैं अब जैसे ऐसे वहशी कहाँ है खूबा मीर को तुम बस उदास किया या हम फकीरों से बेअदाई क्या आन बैठे जो तुम <laughs> प्यार किया अच्छा कौन उर्दू शार ये समझेगा कि इस टुकड़े से असर पैदा होगा मीर ने कर दिया असर पैदा कोई ना उम्मीदा न करते निगाह सो तो तुम हमसे मुंह ही छुपा कर चले आप किसी से कहिए तो मुतासर नहीं हो या ये शेर मीर का कोई करते ने कहा तो तुम हमसे मुँह छुपा कर चले कहता है अरे सीधे ही शेर है कोई हम हाँ कहें क्या कोई हमसे पूछे जो मीर हम्म। जहां में तुम आए थे क्या क्या, क्या, क्या, क्या अच्छा अब देखिए अल्लाह अल्लाह ये एलिमेंटल शायरी है जब जब सराय हो भी है ये देखिए एक नजर सब उर्दू शायरों का वहां एक नजर एक चश्मा एक चश्मा एक निगाह एक नजर एक चश्मा चश्मा एक निगाह इसमें भी तुमको है तहमुल ये एलिमेंटल पोएट्री है या गालिब के पास की नहीं थी गालिब ने कहीं कहीं इससे एक मील तक आगे बल्कि इस, इस पर एक मजमून किसी पाकिस्तान के राइटर ने लिखा था कि ये जल्दी से लोगों ने लिख दिया कि गालिब ने सख्त मुश्किल गोई छोड़ के मीर का रंग अख्तियार किया झूठ उसने लिखा कि गालिब के सादा अशार और मीर के सादा अशार में जमीन आसमान का फर्क सिर्फ सादगी नहीं है बल्कि सादगी की रूह है मीर के वहां जो गालिब वहां नहीं है जो गालिब वहां सादगी का पोशाक है ज्यादातर है हम तो सोने शादी के बगैर हम आपका भी कलाम नहीं सुने शादी कुछ तो आपके वहां भी तो ये चीज है अच्छा ये मीर में क्यों है किसी ने कहा साहब उनके वालिद बड़े भारी फकीर थे सूफी थे एक तो ये इनकैलकुलेबल मामला इसका हिसाब आप नहीं दे सकते आप क्यों आप हैं आपका सदा भाई आप नहीं है ये तो मिंडलिज्म का क्वेश्चन कि एक उसमें मटर के दाने एक ही में मुख्तलिफ होते हैं दूसरी चीज़ गालिबा इन चीज़ों में क्यों और क्या बड़ा खतरनाक होता है दूसरी चीज़ गालिबा यह है जिसको हम कहते तो मीर हमको मार देते मीर वॉज उसको बड़ा अच्छा थोड़े इस्लाम मैं भी मैं भी मुसलमान हूँ मैं बताऊँ काफिर के क्या कशका खचा में बैठा हाँ यह तो भी यह भी काफिर है या क्या मजहब सबसे सख्त काफिर था जिसने पहले मीर हाँ। <laughs> हाँ। मजहब हाँ। वो एक लड़के का खतना होने वाला था तो लड़का एक कहता हुआ भागा खतने के वक्त काफी रेश का मुसलमान ही मेरा दरकार और ये पंडित जी के साहबजादे का जनेऊ होने वाला था अच्छा, अच्छा। तो हर रगेगा तार तार गश्ता हाजत जुलदार हाँ जी सिराज साहब तो कलाम में की माफी चाहता हूँ जरा रोकूंगा जी मैं वो खुश समझा अच्छा, क्योंकि नाम का जो है वो काठन जूठन काठन हम्म। मीर के कुफर का मुझे मिला है असली चीज तो खा गया मुकम्मक सूर में और तुलसी तो सुपर है अच्छा वो ये है कि फिजिकल लिमिटेड यानी मादी महदूद छूने उठाने वाली चीज की डिविनिटी अगर महसूस हो जाए तब आप तमाम हाँ, हाँ। और ये मीर ने महसूस किया और पचास शेर से ज्यादा मैं नहीं कर सके ये बड़ा मुश्किल है ये बड़ा मुश्किल है आखिर शेर का मिसरा होगा तुम मुस्कुरा दी आंख में आंसू तो ये हर आदमी मुस्कुरा दिया करता है तो ये क्या बात हो गई क्या चीज ने मुस्कुरा दिए कि एक्ट ऑफ प्लेस को छू दिया तो वो मिस्टीरियस डायमेंशन है पोएट्री का वो पोएट्री का मिस्टीरियस डायमेंशन है ये मीर का कुफ्र है ये मीर का कुफ्र है कुफ्र और किसी चीज को नहीं कहते बल्कि जो चीज जितनी बड़ी है उससे बड़ी नजर आए उससे गहरी नजर आए उससे पाकिजा नजर आए वाह वाह और उससे ज्यादा ह्यूमन नजर आए बड़ा मुश्किल होता है हम लोग पांच सौ शेर करते हैं तो एक मिसरा मिलता है ऐसा खाक साहब कहीं दूर से नकल कर सका है इसको खैर तुमने तो बेवफाई की हमसे हम ये मीर में होता तो हम न कहते मीर का कलाम पढ़ लिया बहारा जो पूछो हो तुम गुल अपने लहू में नहा जाए हाँ ये सब मीर भी जाहिर मीर ये मीर कर चुके हैं अच्छा और गालिब की सादगी दूसरी आ, या वो याद वो तेरी याद में हो या तुझे भुला ये या वो गजल पढ़ी है फिर आपने जिसे सुन के आंखें भर आई वो गजल पढ़ी है फिर अच्छा अब आप ये देखिए कि आज की तो उर्दू नहीं है आंखें भर आई मिसलेना सर ने बोल जब तक 200 वर्ष पहले की क्रिया नहीं लाओगे क्यों ये क्यों असल में शेर की जान जो है वो आवाज में छुपी होती है आइया में वो आवाज आती है आई में नहीं आती वैसे मैं अपनी मेरी का एक शेर सुन लीजिए वो सूरत इलाही किस देश बस्तियां हैं हाँ। अब जिनके देखने को अब हाँ, तो बस्ती हैं और तरसती हैं कहिए क्या हाँ मैं ये पूछ रहा था अपनी जानकारी के लिए कि ये तरफतियाँ बस्तियाँ आइया ये कहीं लोक भाषा का असर है इसमें या ये देखिए भाषा को कभी आपके सवाल का जवाब देने के पहले तो मैं पहले ये कह दूँ मैं आपके सवाल से खुश हूँ क्योंकि अंग्रेजी डिपार्टमेंट में हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चन जी थे हिंदी के साथ तो मैंने कहा बच्चन जी हिंदी आज जो लिखी जा रही है इसमें चीजों की जमा का जिक्र करो रातें बातें तो बच्चन आदमी ईमानदार है कहने लगे जमा हमारी कमजोर है <laughs> जमा हमारी कमजोर है हमारी जमा कमजोर अच्छा ये क्यों बात यह है कि जमा एक संस्कृत से जो चली है वही गांव की जमा है वही फारसी की जमा है वही मॉडर्न तो खड़ी बोली पुस्तकान पुस्तक पुस्तकान वहां से चला वही ईरान में जब आर्या पहुंच गई तो वो दो तीन जमा निकाली उन्होंने जैसे वो कह देंगे अंजुमनान दिलबरा दिलबरा अच्छा मगर वो वहां बस गए तो बड़ी भारी तहजीब बनाई उन्होंने अब वो कुछ ऐसी चीज़ें निकाली कि जो शायद संस्कृत में कमाए जैसे गुल्हा दिल्हा अब आइए गांव में वो बनाएगा जमा देहाती जो न जाने संस्कृत न कुछ मगर संस्कृत उसके खून में तो ही है जिसको वो जानता नहीं लड़कन हद रहे लड़कैया लड़कैया हाँ, तो अच्छा अब वो लड़कन बालन मेहरलवन अच्छा अलिफ नून लगा के भी हम्म, खाली तो हाँ ये वहां हैदराबाद हिंदुआ मुसलमाना मोटरा सिगरेटा बीड़िया असर तो फारसी का है ना कि वो जान नहीं फारसी से गलत है ये फारसी नहीं वो वेद से पुस्तकार संस्कृत तो खुद फारसी में वहीं से आया होगा आता वहीं से नहीं है दोनों साथ गए साथ गए ये नहीं हमको डिंग डिंग मारना चाहिए कि हमने उन्हें दिया है हमारे भाई थे बोलेगा <laughs> अच्छा अब आई उर्दू इन्होंने एक काम ऐसा किया जमा बनाने में कि जिससे दुनिया की जितनी जबान हैं उससे ज्यादा म्यूजिक आ गई आपकी जबान इतनी आ गई है कि हम लोग जो बोलते हैं फारसी में जमा या फारसी में नून गुन्ना ही नहीं है फारसी में आसमान आसमान है जहान नहीं जहान जदीद फारसी की है ये अच्छा पुरानी पुरानी मूल पुरानी जब आता है तो इजाफत में जब आता था पुरानी फारसी तो आता था नहीं तो, तो आएगा अच्छा अब देखिए जहाने गुजरा हाँ। पहले का जो है लफ्ज जहान उसमें ऐलान होगा हाँ। गुजरा में नहीं होगा मॉडर्न में हाँ। भी ऐलान है नई फारसी में गुजरा जहान गुजरा अब उसमें भी ऐलान है अच्छा अब आई उर्दू आप उर्दू के शेर जरा सा गुनगुना लीजिए अपनी बात तो कई शेर आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसकी म्यूजिक जो है उसकी की जो है पिन हाँ, ये तो है ये खास है गिनाई अहमियत तो है गिनाई अहमियत आ जाती है तो है तो एक तो ये प्लूरल बनाने में खास बात है मगर आपका पूरा सवाल क्या था ये लोक भाषा से आया है या उर्दू की जबान का विकास कवि ने अपने आप किया है मैं तो पहली बात तो यह कह दूं कि मैं कवि को हरगिज इस बात की क्रेडिट नहीं देता कि वो जबान बनाता जी मैं इतना बड़ा आदमी नहीं मानता था शाह बल्कि खुद उर्दू वाले दावा नहीं करते वो ये नहीं कहते कि गालिब की जबान है वो कहते हमारे घर की हम्म। हमारे घर में यूँ बोला जाता है मीरानी से ही कहते थे कि भाई जो हमारे घर की जबान है अच्छा अब उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पर लिखा है इसने स्टालिन ने language cuts through class distinction class character है ही नहीं अदर का लैंग्वेज में कुल क्लासेस रिप्रेजेंटेड जब पढ़ा ये शेर मीरसोज ने नहीं निकसे है मेरे दिल के उपाहे गाहे तो सौदा ने कहा कि मीर सोच साहब मीर साहब मैंने बचपन में कुछ डोमिनिया गाती थी तब सुना था ये लफ्ज और आज सुन रहा हूँ ये लफ्ज तो शेडिंग होती है इसमें टकोर डिबी भी रोटी डाली जैसे निक्सय क्या बुरा ही था लॉजिकली साबित कर लिखा निकसना क्यों ना कहना अच्छा अभी तक आप बोलते हैं कि रूई की निकासी है तो वहां निकलना नहीं कहते आप निकासी अच्छा, होती है और दरियाओं के लिए ड्रेनेज के लिए ब्रजभाषा में जी हाँ ब्रजभाषा में कृष्ण एक गली से आते हैं तो गोपियां कहती हैं कहा से कढ़े हो निकले अब हम कहते हैं ये बड़े कढ़े हुए आदमी और कढ़ाई होती है अच्छा तो ये हुआ है कि बेस तो भाषा का इलिटरेसी भाषा का बे, बेस इलिटरेसी और लिटरेचर कहते हैं ब्रिलियंट इलिटरेसी को हाँ, हाँ। बहुत अच्छा कि जो ब्रिलियंट लिटरेचर होगा हाँ। वो फिर जनता का साहित्य होगा हाँ। का देश के अनपढ़ आदमियों का साहित्य ब्रिलियंट लिटरेचर होगा हाँ सिर्फ ब्रिलियंट लिटरेचर के माने आप ऐसे शब्दों का एकजा कर देना न समझिए जो कॉमन मैन नहीं बोलता ये मुस्तनद जबान फिर क्या चीज हुई मैं गुजारिश कर मैं आपकी गुजारिश कर दूंगा ग्रेट लिटरेचर और ब्रिलियंट लिटरेचर वही है कि इतने बड़े बच्चे को जो लफ्ज मालूम है उससे वो गीता लिख अच्छी बात ये चीज है अच्छा अब छोड़िए बाइबल देखिए We live, move and have our being in thee. इसमें कौन लफ्ज है जो आप इस मन में सीखा ही who will save his life must lose his life ये तो कॉन्सेप्ट की बात है बिल्कुल नहीं है फैक्ट नहीं अगर इजाजत दे तो मैं हाँ हाँ क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट इनके तर्जुमे बराबर होते रहे और उनको अपने असर की जबान जो है उसमें हमेशा लाते रहे बिल्कुल नहीं सोलह सौ दस ऑथराइज भाषा जेम्स नहीं उसके बाद भी नहीं आया तर्जुमा ठूक नहीं साहब मैं सवाल हाँ, रख लेंगे हम भी लाइब्रेरी वो साहित्य वाली बात नादराइन हाँ, की बात हम बता दें एक सेकंड है वक्त नहीं रखेगा वो ये है कि हम इसको खाली पॉपुलर लिटरेचर समझें या इसको ग्रेटेस्ट पॉसिबल लिटरेचर समझें ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई फसो कीट कट की नाई छूद्र नदी बह चली उतराई जिब थोड़े धर खल बहुराई बूंद अघात तो गिर कैसे खल के बचन संत हैं जैसे घोर क्या घन घमंड हाँ। जत घोरा क्रियाहीन हाँ, हाँ, डरपत मन मोरा तो आप अगर तुलसीदास देखिएगा तो शुद्ध तत्सम पचास सोलह से या तो उत्तरकांड में चूंकि वहां पंडित होना पड़ा है उनको या कुछ बालकांड के बीच में तो आप ये पाइएगा कि डिकेट्स के बारे में पढ़ रहा था कि डिकेट्स की ग्रेटनेस ये थी कि झाड़ू दी, दी एक बुढ़िया ने आपके घर में लंदन में जब उसको छुट्टी हुई तो दिक्कत पड़ती है वही प्रेमचंद है हम्म। वही सूरदास है अच्छा तो अब इसमें एक तमाशा आता है अब हमारा मुल्क खुद बड़ा मुल्क है इसमें जो दूसरे को सहज है वह हमारे लिए मुश्किल हमारे लिए जो सहज है वह आपके लिए मुश्किल और कुछ हम लोग बेवकूफ भी हैं बेवकूफ ये हैं कि हम इन्फर नहीं करते मैं दस बरस से छोटा था चचा आए एक उर्दू नावल पढ़ते हुए कि सवार तलवार बाजे में चला जा रहा था एक मामूली राहगीर था वो सवार को देख के मरऊब हो गया हमारे भाई बहनों ने मरऊब के बारे नहीं बताया ना हम जानते थे जरा सी अकल लगाई मैंने कहा रोप गोद में उठा लिया अच्छा तो कई बातें होती हैं मैं एक वाक छोटा सा बयान कर लू मैं ग्यारहवा बरस में बारहवा मूर्ति कजन आए पुपिता भाई तो वो अप होशार थे अपने उस्ताद से बात करके आए थे उस्ताद घबरा रहे थे डाक के शेर पर हमको सुनाया उन्होंने दिल ही तो है ना आए क्यों है तो बहुत सहज दम ही तो है आए क्यों मुझको खुदा जो सब्र दे तुझको हंसी बनाए उस्ताद उनके इतना मोटा दीवान कहे हुए कहे शेर का कोई मतलब ही नहीं पहले मिसरे और दूसरे मिसरे में कोई सवाल ताल्लुक नहीं और मेरा दावा यह है कि आप लोग भूल हैं कि शेर तो सुना दिया अल्फाज बहुत सांचे में डले हुए हैं मतलब हमने बताया गोद उठा लो कहा उस्ताद के समझ में नहीं आया बेटा तुमने कर मैंने कहा कि माशूक और आशिक में इस शेर के पहले से बातें हो रही और वो शरारतन मासूख ने ये कहा आशिक से भगवान आपको सब्र दे छड़ना तो है ये खुदा आपको सब्र दे तब झल्लाट उसने कहा कि मुझको खुदा जो सब्र दे तुझको हसीन बनाए क्यों वही मीर का शेर उनसे भी पूछे कोई तुम इतने प्यारे क्यों हुए अच्छा तो कहने की गरज यह है कि हम लोग सिंपल के माने ये समझते हैं तुच्छ <clears throat> ये धोखा नहीं होना चाहिए आप समझिए कि डिफिकल्ट पांडित्यपूर्ण आलिमाना वगैरह वगैरह ये अल्फाज मक्खी की हैसियत रखते हैं सिंपलिस्टिक सामने ये आप जानिए अच्छा अब आगे बढ़िए ये क्यों चला है आपने तो खैर वो गलती की नहीं अपने समाज में लेकिन करीब करीब उस गलती के आप आ गए छू वो ये है कि साहब बेत खा खा करके तो साइंस पढ़ी मार खा खा करके तो अलबरा आई तो वही चीज आने के लायक है जिसमें बेत पड़े वो क्यों ऐसा पैदा हुआ वो ये है कि जब वर्नाकुलर का यूरोप में राइज हुआ है लैटिन और ग्रीक के बाद जब आजाद हुए हैं लैटिन और ग्रीक से इटालियन फ्रेंच वर्नाकुलर के माने कॉमन सार्वजनिक बड़े बहुत लोग बिगड़ते थे टंडन जी हिंदी को वर्नाकुलर न कहो क्योंकि common man was the slave of Rome तो लैंग्वेज ऑफ स्लेव जो गलत है ये वर्नाकुलर के माने नहीं अच्छा खैर छोड़िए तो अब पढ़ाना है तो एजुकेशन तो पहला चैप्टर जो हर्बर्ट स्पेंसर का है उसने बताया है कि मनुष्य कारामद को समझने के पहले सजावट को समझता था कपड़ा कारामद है लेकिन सैनिक गोदना के जाता था उसका न जाड़ा जाएगा उससे न कोई बात आएगी तो ये डेकोरेशन का फैलसी फैल गया कैम्ब्रिज में काशी में पंडितों में उलमा में कि आपके समझ में तो नहीं आई वो भानुमति का बेटा रहा तो वो खाली लैटिन पढ़ाएंगे ग्रीक पढ़ाएंगे पहला प्रोफेसर दुनिया में अंग्रेजी का इंडिया में अपॉइंट हुआ लंदन में नहीं वो इंग्लिश पढ़ाते ही नहीं थे वो ऑक्सफोर्ड के ग्रीक अब रहा हिंदुस्तान तो मुसलमान ने कहा उर्दू तो हमारा लड़का भी जानता है और लड़की भी जानती है अरबी पढ़ो तब लड़के को जरा प्राइड है मैं अरबी पढ़ता हूं जरा बहुत उतरे नहीं है मैं तक बी ए तक तो फारसी पढ़ता हिंदू हम्म, ये तो गांव वाले बोलते हैं मैं संस्कृत पढ़ू तो जब पीछे से धकिया करके ये प्रिविलेज क्लास को धतिया लिया गया तब वर्नाकुलर है ये बड़ी भारी हिस्ट्री है कि अंग्रेजी की किताबें इंग्लैंड में कैसे बिकने लगी पांच परसेंट से कम लिटरेसी और वो भी ग्रीक एंड लैटिन तो wealth of nation Adam Smith की कैसे बिकी चासर कैसे लगा मिल्टन खुद कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी कैम्ब्रिज वगैरह तो ये जो हिंदी के लोगों को हम जब शिकायत कर देते हैं कि मुश्किल लिखते हो तो कहते तो क्या तरकारी खरीदने की भाषा लिखा ये नहीं जानते कि बड़ा साहित्य तरकारी ही खरीदने की भाषा में होता अच्छा। शोहरत ने हमको कर दिया